परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणासिकेताः यः सेतुरीजानानाम् अक्षरम् ब्रह्म यत्परम् अधयम् तिकीर्षताम् पारम् नाचिकेतम् शकेमहि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा ओ अब पहले अध्याय की तीसरी बल्ली प्रारंभ होती है तीन तीन बल्ली है एक एक अध्याय में तीन बल्ली एक अध्याय में तीन बल्ली इसके पहले विद्या और अविद्या का निरूपण किया अविद्या का फल है संसार और विद्या का फल है आवरण भंग होकर भ्रांति की अविद्या की निवृत्ति होकर के अपने स्वरूप भूत ब्रह्म का साक्षात्कार इसका मतलब है कि दुनिया में आदमी सिर्फ तो नासमझी से दुखी है समझ हो गए तो दुखी बिल्कुल न हो ये वेदांत जो है ना इसका सार सार जैसे लब्बू लबाद बोलते हैं यही है कि जहाँ हम दुखी होते हैं वहाँ कोई न कोई बेवकूफी करते हुए होते हैं जब बच्चा ज्यादा दूध पीना चाहता है तो माँ अपने स्तन से हटा देती है वो रोता है कि हमको दूध पीने को नहीं मिलता वाघ में हाथ डालना चाहता है और माँ वहाँ से खींच लेती है, तो वो समझता है कि हमको बड़ा भारी दुख हो गया वो हमारे बच्चों के साथ खेलना चाहता है रहना चाहता है माँ वहाँ से हटाती है तो रोता है वो कोई गंदी चीज खाना चाहता है माँ रोकती है तो समझता है कि हमारा तो सर्वस गया तो जैसे बच्चे माँ बाप की दृष्टि से देखो तो केवल नासमझी के कारण ही दुखी होते हैं ऐसे ही ब्रह्मवेदता लोग इस बात को जानते हैं कि संसारी लोग जो दुखी हो रहे हैं बाहरी कारण की कल्पना करके भीतरी कारण की कल्पना करके अपने को दुखी मानना ही असल में नासमझी का झंडा है प्रारब्ध से दुख नहीं आता प्रकृति के प्रवाह में सब घटनाएं घटती रहती हैं ईश्वर इच्छा से संसार चलता रहता है कोई मरता है कोई जीता है कोई आता है कोई जाता है कुछ मिलता है कुछ विछुड़ता है ये तो सब संसार में अपने आप होता ही रहता है उसी के साथ अपनी वासना जोड़ करके अपना संकल्प जोड़ करके अपनी इच्छा जोड़ करके आते जाते हुए दुख को मैं मेरा मान करके और हम अपने को सुखी दुखी कर देते हैं तो वेदांत का ये कहना है कि यदि तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान जाओ मैं तुम्हारे अंदर समझदारी आ जाए बेवकूफी छूट जाए तो ये जिंदगी भर जो किल्लत लगी है ना दिन भर में सत्रह बार दुखी और सत्रह बार सुखी ये हुआ रे और ये नहीं हुआ रे सब कट जाए तो जैसे धर्म करते हैं नरक से छूटने के लिए और स्वर्ग पाने के लिए और उपासना करते हैं कि हमें इस लोक में भी सुख मिले और परलोक में भी वैकुंठ गोलोक मिले वेदांत का ढंग ये नहीं है वो मरने के बाद सुख देने के लिए नहीं है या इष्ट लोक के इष्ट लोक में भेजने के लिए नहीं है और तो सचमुच तुम सुख दुख से अछूते हो तुम्हारा सच्चा स्वरूप बताने के लिए है पर ये बात लोगों की समझ में जरा देर से आती है देर से नहीं मतलब है मुश्किल है जो छोटी वस्तु से मैं करके बैठा है देह से देह के साथ लगी हुई जो चीजें हैं आदमी हैं उनको मैं मेरा करके बैठा है तो वो अपने को एकाएक चिन्मात्र चिज्योति देश काल वस्तु का प्रकाशक देश काल वस्तु की कल्पना का अधिष्ठान देश काल वस्तु सब मानस हैं और मैं उस मानस का साक्षी हूँ मानस है मानस स्वप्नवत है और मैं उसका साक्षी हूँ ये बात जल्दी समझ में नहीं आती इसलिए बारंबार भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न रीति से इसको समझाना पड़ता है तो अविद्या का फल है बंधन अविद्या का फल है दुख अविद्या का फल है परिच्छिन्न से तादात्म्य होना और विद्या का फल है हाँ, विद्या का फल है परिच्छिन्नता के भ्रम की निवृत्ति विद्या का फल है बंधन की निवृत्ति विद्या का फल है अविद्या की निवृत्ति विद्या का फल है दुख की निवृत्ति तो उसी विद्या अविद्या के स्वरूप का निर्णय करने के लिए ये फल सहित अगले प्रकरण का प्रारंभ किया जाता है और उसी के लिए इसमें रथ के रूपक की कल्पना है आत्मानम रथनम वृद्धि शरीरम रथन इससे होता क्या है कि परमात्मा को समझना सुगम हो जाता है कैसे तो मालूम पड़े कि प्राप्त करने वाला कौन है और जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कौन है जाने वाला कौन है और जहाँ जाना है वो कौन है तो रथ का रूपक दे करके पहले दो आत्मा का वर्णन प्रारंभ करते हैं दो आत्मा का उपन्यास ऋतां पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो जे शत्रिणाचिकेताः आप अपने हृदय में देखो तो साफ साफ मालूम पड़ेगा कि हमारी दो स्थिति होती है हम दो रूप धारण कर लेते हैं कैसे जागृत और स्वप्न में तो हम सुखी दुखी हो जाते हैं और सुसुक्ति में हम सुखी पने और दुखी पने से छूट जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि चिंता वाला चोला जब तक हम पकड़े रहते हैं तब तक सुखी दुखी और चिंता वाला चोला जब हम छोड़ देते हैं तो न सुखी न दुखी ये चिंता जो है ये चोले में ही है दुख न हो इसकी चिंता और हमको सुख ही मिले इसकी चिंता ये कहाँ लगी पड़ी है ए मन में लगी पड़ी है कभी ही वो सपना देखता है और कभी जागृत देखता है तो मन को पकड़ करके जब हम बैठते हैं तो हमारा नाम जीव हो जाता है और जब हम मन से ऊपर होकर बैठते हैं तो हमारा नाम शुद्ध आत्मा हो जाता है, है? तो हम कर्मफल कहाँ बैठ के भोगते हैं छाया बन के कर्म फल भोगते हैं और प्रतिबिंब हो करके हम कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं तो इसी शरीर के भीतर हमारी ही स्थिति है उस अब एक अप्राप्त सी मालूम पड़ती है और एक प्राप्त मालूम पड़ती है ऐसा लगता है कि हम दुखी सुखी हैं ये तो हमारे सिर पर बोझ आ गया और ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सब से छुट्टे परिंदे हैं दृष्टा जन्मास्त्र तो ऐसी स्थिति तो प्राप्त करने योग्य है देखो अपने आप के बारे में ही ऐसा हो जाता है कि हम हमारी स्थिति ऐसी हो जाए हम ऐसे हो जाए हाँ, नारायण तो ये तो अभी प्राप्त करने योग्य है और जिसमें हम गिरे हुए हैं का ये स्थिति तो निकलने लायक है अंतकरण के कुएं में जब गिरते हैं तब अंधकार है साफ है बिच्छू है और जब अंतकरण के कुएं में से निकल जाते हैं तो प्रकाश है तत्व ज्ञान है ये सबसे बड़ी पकड़ चित्त की ही पकड़ है जब इस चित्त के घेरे को हम छोड़ देते हैं तब न राग न देश न पक्षपात न क्रूरता न सूरता तो आओ इस पर विचार करें ऋतम पिबंत लोक है इस लोक में लोके इस लोक में ये देखने में आता है कि अपने किए हुए कर्म सुकृतस्य जो रित है अवश्यम भावी होने के कारण सत्य फल है उसको पी रहे हैं बैठ करके कहा हृदय ही गुहा में गुहाम प्रविष्ट हाँ। वो गुहा कहा है इसी लोक में ये अयम आत्मा अयम लोका ये जो शरीर जो है ये लोक है इस लोक में ही एक गुहा है बुद्धि है परमे परार्थे उसमें बाह्य शरीर जिस आकाश में रहता है उसकी अपेक्षा अवच्छिन्न आकाश और उसकी अपेक्षा भी अंतरंग आकाश बुद्धि आकाश हर्द आकाश क्योंकि उसी में परमात्मा की उपलब्धि होती है इसलिए उस परम परार्थ में ब्रह्मलोक में हृदयाकाश में जहाँ ब्रह्मा रहता है जहाँ विष्णु रहते हैं जहाँ शिव रहते हैं उस हृदयाकाश में उस बुद्धि की गुहा में जीव और ईश्वर दोनों बैठे हुए हैं संपूर्ण जगत का नियंता क्या तुम्हारे हृदय में नहीं है और एक एक शरीर का नियामक जीव क्या तुम्हारे हृदय में नहीं है तुम भी हृदय में ही बैठे हुए हो और संपूर्ण विश्व का नियामक भी तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ब्रह्म के रूप में है जिसमें न नियंता न नियम्य न शरीर न शरीरी तो वो पर ब्रह्म परमात्मा भी हृदय में ही बैठा हुआ है तो ब्रह्म वेदो बदनते ब्रह्म का लोग ये बात कहते हैं और केवल ब्रह्म का लोग ही नहीं कहते हैं जेस पंचाग्नया जो पंचाग्नि है गारहपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीयाग्नि सभ्याग्नि आवसत्याग्नि इन अग्नियों के जो उपासक हैं गृहस्थ और जिन्होंने खूब खूब अग्नि चयन किया है अग्निहोत्र किया है वे कर्मी भी और निवृत्ति परायण ब्रह्मनिष्ठ भी सभी कहते हैं कि इस शरीर के भीतर छाया और आसप के समान जीव और परमेश्वर रहते हैं इसी शरीर में देखो ये कितनी सुगम बात है कि जिस ईश्वर को हम अपने से दूर समझ करके सोचते हैं कि ईश्वर से बिछुड़ गए और कोई कोई ईश्वर को मानते ही नहीं कहते हैं कि ईश्वर न भीतर है न बाहर है कहीं है ही नहीं कोई कहते हैं कि ईश्वर वैकुंठ में है कोई कहते हैं पता नहीं ईश्वर होगा कि नहीं होगा हाँ। कोई कहते हैं है तो पर बड़ा दुर्लभ है वही ईश्वर जिसके बारे में ना हा दूर निकट यहाँ वहाँ आज तक बीसों बात कही जाते हैं वो ईश्वर हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है ये कितनी खुशी की बात है हाँ। आपको सुना में हमने ऐसा भक्त देखा है भक्त वेदांति ने एक ऐसा भक्त देखा है कि अगर उसके सामने कोई कह देना कि ईश्वर हृदय में है तो अपना हृदय नोचने लगता था शरीर को नोचने लगता था कि अच्छा इसके भीतर छिपा है तो हम फाड़ देंगे ये चार हटा देंगे ये हड्डी तोड़ देंगे और हम देखेंगे कि हमारे हृदय में है? हमारे हृदय में ईश्वर कहाँ छिपा हुआ है इतनी महत्वपूर्ण वस्तु और साढ़े तीन हाथ शरीर के भीतर छिपी हुई है और हम उससे मिले बिना उसको देखे बिना उसके जाने बिना हाँ, रह जाते हैं है? हम तो उसको पांच पैसे के बराबर भी कीमती नहीं समझते हैं एक भक्त की बात आपको सुना एक हमारा वेदांति का अच्छा इसकी शरीर में है तो क्या है बोले एक छाया है एक आदत है इसमें ही पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसी शरीर में बोले भला छाया आदत किसको कहते हो बोले सब इस सिद्धांत को मानते हैं क्या अग्नि के उपासक गृहस्थ और क्या परमात्मा को ढूंढने वाले भक्त और क्या वेदांति ये सर्वसम्मत सिद्धांत है कि इसी शरीर के भीतर इसी भूताकाश में ये शरीर और शरीर में शरीर अवच्छिन्न आकाश और उसमें फिर हार्दाकाश हृदयाकाश उस हृदय आकाश में परमेश्वर बैठा है अरे लेकिन यहाँ शंका ये होती है ऋतम पिबंत कर्म फल का भोगता है तो वाचस्पति मिश्र ने कहा कि असल में ये अपीबन और पिबंध इन दोनों का समाप्त है तो एक पीता हुआ नहीं है एक कर्म फल को पीता हुआ नहीं है और एक पीता हुआ है परंतु जैसे संस्कृत भाषा में माता माता के पिता से दोनों बोलना हो ना तो केवल पितरऊ कहने से काम चल जाता है क्यों पिता के साथ माता का ही द्वितीयक तो जो होता है ना पिता के साथ माता का ही होता है तो जब पितरऊ शब्द जो वचन में बोलते हैं ना जैसे संस्कृत में तो पिता पितरऊ पितरा तो एक पिता दो पिता तीन पिता इसका तो हुआ ना तो तीन व्यक्ति को कोई पिता कैसे दो व्यक्ति को कोई पिता कैसे बोलेगा है? वो व्यक्ति को तो कोई पिता नहीं बोलेगा ना तो पिता शब्द का विवेचन कैसे होगा संस्कृत में तो वो माता के द्वारा पिता शब्द का विवेचन होता है वहाँ माता से पिता से पितर ऐसा अर्थ होता है ये देखो संस्कृत भाषा का एक विचार आपको बताया वहाँ पिता शब्द का विवचन तो होता है परंतु दो पिता की दृष्टि से पिता शब्द का विवचन नहीं होता हाँ। पिता के साथ नित्य संबंध जो माता है उस माता को लेकर के माता और पिता तरह ऐसा बनता है ऐसे बोले ये पिबंतऊ जो विवचन है ना ये एक अपिबन है और एक जीवन है परमात्मा तो अपिबन है वो कर्म फल का भोगता नहीं है और जीवात्मा जो है वो कर्म फल का भोगता है माने एक ही परमात्मा जब तक अविद्या के साथ रहता है तब तक वो कर्म फल का पान करता है और जब वो अविद्या को छोड़ देता है विद्या के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है और अविद्या से भी मुक्त हो जाता है तब वो कर्म फल का पालन नहीं करता श्रीमद भागवत में स्तुति की व्याख्या बड़ी विलक्षण है और ग्यारहवें संघ में वो कहते हैं कि ये न बुद्धि और जीव का वर्णन है न जीव और परमेश्वर का वर्णन है श्रीमद भागवत में ऐसे है इस स्तुति में वर्णन किसका श्रीमद भागवत भी तो व्याख्या ही है ना वेदों की ब्रह्मसूत्र की वेदों की व्याख्या मान रहे हैं तो जगह जगह पर उसमें आते हैं ऐसे उदाहरण तो उन्होंने कहा एक बद्ध जीव का वर्णन है एक मुक्त जीव का वर्णन हाँ। जो बद्ध जीव है वो अभिमान के कारण कर्म फल का भोक्ता बना हुआ है और जो मुक्त जीव है वो अंतकरण का अभिमान न होने के कारण मुक्त है और कर्म फल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है तो ये व्याख्या भागवत की है श्री चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि आप उपनिषद की व्याख्या क्यों नहीं करते ब्रह्मसूत्र की व्याख्या क्यों नहीं करते क्योंकि इनकी व्याख्या के बिना तो कोई संप्रदाय नहीं चलता तो उन्होंने कहा कि हमारे मत में उपनिषद और ब्रह्मसूत्र माने वेदांत का व्याख्यान श्रीमद भागवत ही है इसलिए श्रीमद भागवत रूप व्याख्या के रहते हम दूसरी व्याख्या दूसरी व्याख्या क्यों करें और भी किसी आचार्य ने स्वतंत्र रूप से उपनिषद की व्याख्या नहीं की केवल शंकराचार्य ने ही उपनिषद के एक एक मंत्र एक एक बात एक एक पद की व्याख्या की हो तो अब ये आया छाया कपा विरुद्ध विलक्षण संसारित्वा संसारित हाँ, भाष्यकार ने कहा कि एक संसारी है और एक असंसारी है देखो व्याख्या का बीज निकल आया ये आप छाया जो है जो प्रतिबिंब है जो छाया तपो जो अंतकरण में छाया है आभास है वो भोगता है बोले फिर सिबंत दिवचन क्यों तो ये ऐसे है कि जैसे दस जने जा रहे हों उसमें चार जने के पास खाता हुए चार जने के पास ना हुए तो राम कैसे बोलते हैं पत्रो जानते हाँ। सब छाता वाले जा रहे हैं हाँ। राजा के साथ दस आदमी जा रहे हो तो बोलते हैं राजा गच्छती राजा जा रहा है हाँ। तो एक का ग्रहण होने से दूसरे का भी साथ जो साथी होते हैं उनका ग्रहण हो जाता है तो असल में यहाँ संसारी और असंसारी दोनों आत्माओं का वर्णन है जो देह में मैं करके बैठ गया जो संसार की वस्तुओं में मेरा करके बैठ गया जो अंतकरण के में जो आभास है चैतन्य का कर्तापन भोक्तापन जिसमें रहता है उसी को मैं करके बैठ गया वो तो केवल परछाई रह गया और शुद्ध स्वरूप कौन है तो परमात्मा अच्छा अब दूसरी व्याख्या आपको सुनाते हैं वो क्या है परिताम पिबंत सुकृत लोके गुहाम प्रविष्ट परमे परार्धे छाया ततौ ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये चित्रणाचिकेता परिताम पिबंत सुकृत लोके ये अंतक्रिय विज्ञान दक्षु माने जो योग सांख्य के व्याख्याकार हैं हैं तो वेदांत के भी ब्रह्मसूत्र के भी व्याख्याकार हैं परंतु शांकर संप्रदाय में उनकी व्याख्या परिगृहित नहीं है वो कहते हैं कि छाया कसौ में एक जीव है और एक ईश्वर है तो कैसे दोनों भोगता है तो भला ईश्वर कैसे भोगता होगा बोले कि भोगता तो शांत मत में आत्मा जो है भोगता है योग मत में आत्मा भोगता है वो मजा जो आता है ना चित्त के निरोध होने पर शांति किसको मिलती है बोले आत्मा करता तो नहीं है लेकिन भोगता है तो जीव और ईश्वर के आनंद में क्या अंतर है बोले मतलब जीव को खाने में मजा आता है और ईश्वर को खिलाने में मजा आता है जैसे देखो तुम्हारे घर में कोई बढ़िया भोजन आवे और उसी समय कोई अतिथि आ जाए और उसके सामने वो बढ़िया भोजन की थाल परस दी तो तुम्हारे मन में गिलानी हो गई हाय हाय हमने अपने लिए बढ़िया भोजन आज मंगाया था है? और ये लगाने कहा से खाने के समय टपक पड़े और इनको दे देना पड़ा है तो ये तुम्हारा जीव भाव जो है ना वो अत्यंत गाढ़ता को प्राप्त हो गया और यदि अपने अतिथि को वो बढ़िया भोजन दे के तुमको मामूली खाने को मिला या नहीं मिला एक दिन भूखे रह जाने से कोई मर थोड़े जाता है और खुशी हुई क्या हाँ, आज अतिथि के रूप में तो हमारे ईश्वर आ गया और खिला के खुशी हुई तो जो सिर्फ खा के खुशी होता है वो जीव और जो खिला के खुश होता है वो ईश्वर हाँ, उस समय तुम ईश्वर की कक्षा में ईश्वर की कोटी में पहुंच जाते हो जिस समय दूसरे को खिला के खुश होते हो विज्ञान भिक्षु ने ऐसी व्याख्या की नारायण कि यह करोती यश कारयती जीव करता है और ईश्वर कारयता है करवाने वाला है जीव पीता है और ईश्वर पिलाने वाला है पिबती च वो पीता है और वो पिलाता है तो संसार में करवाने वाले को भी करता ही बोलते हैं हाँ। पिलाने वाले को भी भाई पी रहे हैं मजा ले रहे हैं वो भी पी रहे हैं तो यहाँ छाया और आतप शब्द का ऐसा अर्थ है कि जीव को आनंद मिल रहा है और ईश्वर उसको आनंद दे रहा है उपचारा है ना ईश्वर को भी पिबन बोलते हैं कि पी रहा है असल में वो तो पिला रहा है ऐसे तुरंत मतलब दूसरी बात ये बोली ये बोले कि जैसे नौकर काम करता है तो वो काम मालिक पर जाता है आजकल के मालिक लोग इस बात को कबूल नहीं करते हैं ये बात दूसरी है हाँ तो नौकर काम सेना सेना हारती है तो कौन हारता है राष्ट्र हारता है और राजा हार जाता है सेना हार जाती है और सेना जीत जाती है तो और राजा जीत गया राष्ट्र जीत गया तो सेना तो पर है वो तो सौ दो सौ रुपया लेके अपनी छाती को है ना अपनी छाती को बंदूक की गोली के सामने कर देती है लेकिन उसका हारना राजा का हारना है और उसका जीतना राजा का जीतना है तो यहाँ क्या बात है तो यहाँ बात यह है कि छाया रूप जो बुद्धि है है ना वो तो पिबंती है ना वो छाया रूप बुद्धि जो है वो तो संसार के सुख को संसार के दुख को कर्मफल को ग्रहण करती है वो छाया है और आकट कौन है कि जिसका प्रतिबिंब पड़ने से वो छाया अगर प्रकाश न हो तो छाया कोई चीज होती है तो जिसके प्रकाश में वो छाया काम करती है परंतु नौकर का काम मालिक पर आ गया हाँ। रामचंद्र राज्य में रामचंद्र भगवान के राज्य में ये कानून हो हाँ। एक वर्णन आया है एक बार क्या नाम है विभीषण से अपराध हो गया जम्बुकेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए श्री रंग क्षेत्र में आए थे उनका पांव लगा और एक तपस्वी मर गया मर गया तो पकड़ा ब्राह्मणों ने राम राज्य में तो ब्राह्मणों की महिमा थी पकड़ा बोले दंड दे उसको प्राण दंड दे परंतु विभीषण को तो मरे नहीं विभूष विभीषण उनको तो कल्पांत राज्य प्राप्त तो उन्होंने कैद कर लिया उनको गुफा में डाल दिया खाना पीना बंद कर दिया जब विभीषण नहीं मिले ये पद्म पुराण में कथा है विभीषण नहीं मिले तो ली अयोध्या आदमी गया अयोध्या में शिव शर्मा ने बताया शंकर जी वहाँ पे ध्यान करके बताया कि श्री रंग क्षेत्र में कैद में है विभीषण रामचंद्र रंग क्षेत्र में वहाँ गए तो ब्राह्मणों ने कहा इसको दंड दो तो रामचंद्र ने कहा भाई पहले हमारा संविधान तो देख लो हमारे संविधान में ये नियम है कि वृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड है यदि वृत्य से अपराध हो जाए सेवक से अपराध हो जाए तो उसका दंड स्वामी को मिलना चाहिए और श्रीमद भागवत में भी ये जन्ना मानित गृहणाती कुमार भृत्य कृपा गति सेवक से यदि अपराध हो जाए तो सेवक को कौन जानता है सब लोग कहते हैं कि अमुक के सेवक ने अपराध किया बदनामी तो मालिक की होती है ये बात तो बोले भरम ममई व मरणम मद हस्तो धन्य कथा हाँ। विभीषण को दंड मत दो और दंड तो विभीषण के मालिक को दो हमको दंड दो हम वो दंड भोगने के लिए तैयार है ना तो ये कहने का अभिप्राय ये कि सेवक का काम स्वामी पर चला जाता है तो ये जो आकत जो है ना छाया और आतप ये करती तो है सब कुछ छाया और जाता है आतप पर क्योंकि छाया की स्वतंत्र कोई सत्ता ही नहीं है हैं? ये आत्मा जो अपने को छाया से अभिविष्ट करके छाया का अस्तित्व तो नहीं है वो छाया जो है वो प्रकाश का क्या है आपने कभी विचार किया प्रकाश क्या परिणाम को प्राप्त होकर के छाया बना है है ना जैसे सोने से जेवर बनाया जाता है वैसे क्या प्रकाश से छाया बनी है क्या जैसे दूध से दही बनता है वैसे प्रकाश से छाया बनी है क्या जैसे परमाणुओं के संयोग से घटादी बनते हैं हैं कण बनते हैं क्या वैसे क्या प्रकाश के घनी भाव से छाया बनी है अरे विचार करके देखो तो छाया जो है वो प्रकाश के अतिरिक्त काल में है नहीं छाया प्रकाश के अतिरिक्त काल में नहीं है अतिरिक्त देश में नहीं है अतिरिक्त वस्तु नहीं है परिणाम नहीं है विकार नहीं है आरंभ नहीं है छाया तो बिल्कुल मृषा होती है छाया का वजन नहीं होता और छाया की लंबाई चौड़ाई दिखती है पर होती नहीं है छाया का काल नहीं होता है न छाया में काल है न छाया में देश है न छाया में वजन है न छाया में कर्तृत्व है देखो छाया में जाके खड़े हो जाए तो हमको धूप नहीं लगेगी लेकिन क्या छाया ने जानबूझ करके हमारे धूप को मिटाया उसमें कर्तृत्व तो नहीं है भोक्तृत्व तो नहीं है जैसे अज्ञान वक्त लोग छाया में उसकी लंबाई कितनी लंबी छाया है उसकी चौड़ाई है ना उस कितने समय तक रहती है है ना और वो हमारे गर्मी आदि को दूर करती है तात्विक दृष्टि से छाया के कुछ न होने पर भी है ना छाया में अस्तित्व की कल्पना कर लेते हैं इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में ये छाया रूप नारायण है ये छाया रूप बुद्धि है और बुद्धि कर्म फल का पान करती है और उसके अधिष्ठाता स्वयं प्रकाश आत्मदेव पर उसका अध्यारोप होता है और उसका ज्ञान होने पर तो बोले कुछ नहीं अच्छा छाया और प्रकाश दो स्थान दो काल नहीं दो वस्तु ना वस्तुत्व ही नहीं है अच्छा एक बात है कि आज हमारा विचार तो ये था कि आपको इस मंत्र के अर्थ का एक नमूना सुना है क्या नमूना प्राचीन काल के महात्मा लोग वेद के मंत्रों का अर्थ कैसे करते थे है ना तो अभी तो मैं ऊपर ऊपर की इसकी भूमिका ही सुना रहा था इस मंत्र के हृदय में प्रवेश जो करना है वो ब्रह्मसूत्र में व्यास भगवान ने बाधवाय ने इस मंत्र की व्याख्या की है वो मूल सूत्र में गुहा प्रविष्टाधिकरण है ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण है उसका नाम है गुहा प्रविष्टाधिकरण गुहा प्रविष्ट परमे परार्धे गुहा प्रविष्टाधिकरण तो उसमें इस मंत्र पर बड़ा विचार किया गया है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए तो प्राचीन लोग किसी मंत्र का अर्थ निर्णय करने के लिए कितनी गंभीरता से विचार करते थे ये बताने के लिए है ना हम ले आए थे ब्रह्मपुत्र की पुस्तक ही पर बात यह है कि ये हरकृष्ण राज जो है ना ये हरकृष्ण राज ये परसों थे दिल्ली में तो